हाँ अभी तक हमें वो मिली नहीं है अशोक ने जवाब दिया फिल्म कंपनी ने कंफर्म किया था कि यहाँ पर कुल दस लोगों की टीम थी एक जो अभी तक गायब है वो फिल्म का एक्टर था मतलब साइड एक्टर छोटे मोटे रोल करता था उसका नाम दयाकर रेड्डी था हर्षित बोल पड़ा लगभग सत्ताईस साल का था फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करता था यहाँ पर जिस शॉर्ट फिल्म की शूटिंग हो रही थी उसमें भी उसका बहुत छोटा सा रोल था उसके मोबाइल पर कई बार कॉल किया जा चुका है लेकिन कोई असर नहीं मिला फोन ही नहीं पिक हुई अशोकन ने जवाब दिया मुझे जहां तक लग रही है या तो ये पर्सन मर्डरर है या फिर नेक्स्ट विक्टिम होगी हम्म, विक्टिम होने का चांस ज्यादा है हर्षित ने जवाब दिया क्योंकि इस लड़के ने अभी कुछ दिन पहले ही शूटिंग क्रू के साथ काम करना शुरू किया था ऐसे में उसकी किसी के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी हो सकती है जिसकी वजह से ये इतने लोगों का मर्डर कर रहा था लेकिन सेम चीज तो उसके विक्टिम होने पर भी कही जा सकती है ना आखिर उसकी किसी से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसका खून कर दिया गया अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ओहो तुम्हें क्या लगता है मर्डर की इतने सारे लोगों से दुश्मनी थी जो उसने एक साथ इतने लोगों को मार दिया हर्षित ने अनुष्का से सवाल किया तो फिर तो फिर क्या मर्डर का कुछ और मकसद था अभी हमें जो कि पता नहीं चल पाया है हर्षित ने अनुष्का को जवाब दिया दिन में हम लोग पूरा बीच खंगाल डाला था लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला था अशोकन ने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा फिर उधर से डाइविंग वाले भी आए थे पानी में भी हम लोग ढूंढने की कोशिश किया क्या पता उसको मार के पानी में फेंक दिया हो लेकिन उधर भी कुछ नहीं मिली अभी अशोकन बड़े ध्यान से ये सब बातें हर्षित को बता ही रहा था तभी अचानक से इंस्पेक्टर अशोकन का फोन बज उठा कॉल पिक करने के बाद पहले तो मिस्टर अशोकन थोड़ी देर तक इधर उधर घूमते हुए नेटवर्क की तलाश करते रहे और हेलो हेलो चिल्लाते रहे इसके बाद वो फोन पर अजीब सी लैंग्वेज में काफी एक्साइटेड होकर बात करते रहे विक्रांत उसकी बातों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करता रहा लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया ऐसे में वो बड़ी उत्सुकता के साथ अशोकन के फोन रखने का इंतजार करता रहा जैसे ही अशोकन ने फोन रखा तुरंत ही वो विक्रांत को आगे की अपडेट देने लगा सर वो ऑफिस से फोन था अशोकन ने फोन रखते हुए कहा दरअसल ये फिल्म क्रू वाले जब इधर आया था तब उनके पास खुद का दो स्पीड बोट था जो कि यहाँ किनारे पर पार्क था मर्डर के बाद जब पुलिस इधर पहली बार पहुंची थी तो वो बोट गायब हो गया था लेकिन अभी मेरे आदमियों को वो बोट मिल गई है मैं अभी फॉरेंसिक टीम वालों को बुला रहा हूँ वो लोग आके वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करेंगे क्योंकि जो आदमी बोट लेकर भाग रहा होगा पूरा चांस है वही मर्डर भी है इसी वक्त अचानक से विक्रांत के फोन पर भी एक मैसेज आ गया उसने फोन निकालकर मैसेज चेक किया तो पता लगा कि ये message forensic experts emergency Chautala का था चौटाला ने विक्रांत को मैसेज करके बताया था के फॉरेंसिक टेस्ट करते वक्त उन्हें एक विक्टिम की लाश पर कोई निशान मिला है ये निशान विक्टिम के गले पर है किसी चीज का सिंबल बना हुआ है और ऑयल पेंट वाले ब्रश की मदद से ये सिंबल बनाया गया है कहने का मतलब कातिल द्वारा ये एक और क्लू छोड़ा गया है वह एक और लाश पर क्लू अनुष्का ने चौंकते हुए कहा आखिर कातिल चाहता क्या है इतने क्लू क्यों छोड़ रहा है वैसे किसकी लाश है ये और क्या सिंबल बना हुआ है वो वाली लेडी जिसको पानी में डुबाकर मारा गया है विक्रांत ने अपने फोन में विक्टिम की फोटो दिखाते हुए कहा उस औरत के गले पर कुछ लिखा हुआ था जिसमें इंग्लिश के लेटर होने के साथ ही कुछ नंबर भी लिखे हुए थे ओह ये क्या अनुष्का ने तुरंत ही इस सिंबल को पहचान लिया उसने तुरंत चौंकते हुए कहा सी सोलह एच सोलह एन चार सौ आठ एस ओह ये तो सिफ्रो एक्सिम का मोलिकुलर फॉर्मूला है क्या सिफ्रो एक्सिम विक्रांत को नाम सुनकर बड़ा अजीब लगा उसे कुछ समझ नहीं आया अब ये कौन सी बला है इस सीरियल मर्डर केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए त्रिवेंद्रम पुलिस के हेडक्वार्टर की तरफ से क्राइम लोकेशन पर पानी की एक छोटी सी शिप भेजी गई थी इस शिप में सभी एडवांस इक्विपमेंट रखे हुए थे साथ ही शिप में रहने और ठहरने का भी पूरा इंतजाम था खासतौर पर यह शिप सेंट्रल सीआईडी डिपार्टमेंट की टीम के लिए भेजा गया था ताकि उन्हें केस पर काम करने में कोई मुश्किल न आए अब तक आधी रात हो चुकी थी लेकिन फिर भी लोकल पुलिस वाले पूरी शिद्दत से काम में लगे हुए थे क्राइम सीन का निरीक्षण करने के बाद विक्रांत भी अपनी टीम लेकर इस छोटी सी शिप पर पहुंच चुका था अभी तक जब विक्रांत सेंट्रल सीआईडी की स्पेशल टीम के तौर पर किसी केस पर काम करता था तो लोकल ब्रांच की पुलिस उसकी टीम के साथ कॉपरेट करती थी लेकिन इस बार यहाँ पर त्रिवेंद्रम की पुलिस ने सारा कमांड विक्रांत के हाथ में दिया था क्योंकि त्रिवेंद्रम पुलिस ने आज तक इतना बड़ा और हाई प्रोफाइल मर्डर केस कभी हैंडल नहीं किया था ऐसे में उन लोगों ने विक्रांत के आगे खुद को सरेंडर कर दिया था विक्रांत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ चुकी थी अभी तक हर जगह पुलिस अपना काम करती थी और स्पेशल टीम अपना विक्रांत सिर्फ स्पेशल टीम के लोगों को ही कमांड दिया करता था लेकिन अब उसे लोकल पुलिस वालों को भी हैंडल करना था काम बढ़ गया था ऐसे में उसे ज्यादा मेहनत भी करनी थी और जिम्मेदारी से काम भी खत्म करना था विक्रांत ये बात अच्छे से समझता था कि किसी भी क्राइम के होने के बाद जो 24 घंटे होते हैं उसमें केस के सॉल्व होने का चांस सबसे ज्यादा होता है लेकिन अगर ये 24 घंटे निकल गए तो फिर आगे मुश्किल बढ़ती जाती है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है केस के एविडेंस और क्लू कम होते जाते हैं और मुजरिम पुलिस की पकड़ से दूर होता जाता है इसीलिए शुरुआती 24 घंटे में बहुत सावधानी से और लगन के साथ काम करना चाहिए इस बीच एक एक मिनट का समय बहुत कीमती होता है विक्रांत इस समय को जरा सा भी व्यर्थ नहीं करना चाहता था इसीलिए उसने लोकल पुलिस से कहकर पानी की इस छोटी जहाज पर ही टेम्परेरी ऑफिस बनाने के लिए कहा ताकि वो क्राइम सीन के नजदीक रहकर बिना समय गंवाए जल्द से जल्द केस में प्रोग्रेस कर सके लोकल पुलिस ने तुरंत ही विक्रांत की बात स्वीकार कर ली और फटाफट उस शिप में ऑफिस एरिया बना दिया गया जिसमें बैठकर विक्रांत इस वक्त केस की डिटेल एनालिसिस कर रहा था